बढ़ाए जा वतन के गीत गाए जा कदम कदम बढ़ाए जा वतन के गीत गाए जा ये जिंदगी है काम की तो काम पे लुटाए जा ये जिंदगी है काम की तो काम पे लुटाए जा आजाद देश तो हो तेरा जय हिंद गीत गाए जा आजाद देश हो तेरा जय हिंद गीत गाए जा आगे बढ़ मरने से फिर तू न डर तू शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर तू न डर आकाश तक उठा के सर जोशे वतन बढ़ाएगा आकाश तक उठा के सर जोशे वतन बढ़ाएगा आजाद देश हो तेरा जय हिंद गीत गाएगा आजाद देश हो तेरा जय हिंद गीत गाएगा खुदा तेरी सुनता रहे हिम्मत तेरी बढ़ती रहे खुदा तेरी सुनता रहे जो सामने तेरे चढ़े तू खाक में मिलाए जा जो सामने तेरे चढ़े तू खाक में मिलाए जा आजाद देश हो तेरा हिंद गीत गाए जा आजाद देश हो तेरा हिंद गीत गाए जा दली पुकार के कमीन शाह संभाल के चलो दली पुकार के कमीन शाह संभाल के लाल किले में गाड़ के लहराएगा लहराएगा लाल किले में गाड़ के लहराएगा लहराएगा आजाद देश हो तेरा जिंदगी बिताएगा आजाद देश हो तेरा जिंदगी बिताएगा कसम कसम पढ़ाएगा वतन के गीत गाए

पतन का नौजवान है का पासवान है पतन का नौजवान है पतंग का पासवान है वतन की तू ही शान है वतन के काम आएगा वतन की तू ही शान है वतन के काम आएगा उसी से सर कटाएगा रहीम गीत गाएगा उसी से सर कटाएगा रहीम गीत गाएगा के धन सबों से प्यारा है वतन ये तन वतन हो या के धन सबों से प्यारा है वतन सरों से बांध के कमन दुश्मनों बिछाए जा सरों से बांध के कमन दुश्मनों बिछाए जा नया जहां बताएगा जिंदगी गाएगा नया जहां बताएगा जिंदगी गाएगा Thank you. दिए लहू से तू जला दिए गुलाम बैठ कह दिए लहू से तू जला दिए उजाला हिंद में किए अंधेर को मिटाए जा उजाला हिंद में किए अंधेर को मिटाए जा नसीब को जगाएगा हिंद गीत गाएगा नसीब को जगाएगा हिंद गीत गाएगा याद की तो देश के सुधार की आजाद करके जिंदगी गुलाम रहिंद्र हो का नौजवान है वतन का पासवान है वतन का नौजवान है वतन का पासवान है वतन की तू ही जान है वतन के काम आएगा वतन की तू ही जान है वतन के काम आएगा कर कटाएगा जहिंद गीत गाएगा उसी से कर कटाएगा जहिंद गीत गाएगा वंदे भारत जिंदाबाद